अथर्वेदीय परम विद्या का विषय जो परमात्मा है उसी के अभी आरोप अध्यारोप करने जा रहे हैं सब उसी से तय है विराट की चर्चा विराट है जिसका स्वर्गलोक जिसका शीत है पृथ्वी जिसका पैर है सारे फूल के अनुदान पूरे संपूर्ण जगत में फूल पदार्थ है अनुदान विराट है तो वो भी उसी से पैदा हुआ है परमात्मा से मिलता है जैसे रस्सी से सर पर निकलता है उसी प्रकार परिणाम नहीं अभी राम का परिणाम बात को नहीं सोचना गलत बात आगे पंचम मंत्र आदि नौ आगे ये जो प्रथम मंत्र चलेगा सभी में लगभग किसी का ही निर्भर होगा अध्यारोप का मंत्र है तस्मादग्ने समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्या सोमात्पर्जन्य पृथिव्या पृथिव्याम् वेतः सिन्तति प्रजापुरुषात् सम्प्रसूतः भग्निप्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूतस्मादग्निशविधो यस्य सूर्यः तस्मादग्निशविधो यस्य सूर्यः पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याः सोमात् सिञ्चति योषितायाः मान्वेतः सिञ्चति योषितायाः प्रजा पुरुषात् संप्रसूतः प्रजा पुरुषात् ये जो पंचाली विद्या के माध्यम से जो आते हैं यद्यपि प्राणी सबके सब उस परमात्मा से पैदा हो ये बोलना चाहते हैं छात्रों के मैं और गृह में पंचाली विद्या की चर्चा है माने जब जीवात्मा यहां से निकलता है तो वो कर्मकांडी जो अच्छा होगा सत्कर्म करने वाले जीवात्मा की चर्चा है जो जायश मनुष्य वाली चर्चा है जो जन्मों मरो जन्मों मरो के मरो आदि की चर्चा है जो सत्कर्म करने वाले अभिहोत्रादि कर्म करने वालों की चर्चा है हम लोगों है से जब जीवात्मा निकलता है तो जो आहुतियां थी जीवन भर अमल किया था वो आहुतियां उसको सूर्य रश्मि के माध्यम से स्वर्ग पहुंचाता स्वर्ग गया ऐसी चर्चा तो स्वर्ग में पहुंचना एक बार हवन हुआ उसका उसी बात होना तो वह शोक रूप से पैदा होगा स्वर्ग शोक रूप से पैदा होगा अच्छा। अब शोक मैंने शोक लता जैसे शोक रस होते उस रूप से देवता लोग वहां उसका उपभोग करेंगे जो भी करेंगे जैसे अमेरिका जाने वाले यहाँ के बहुत बड़े हो जाते हैं तो वहां पर काम करवाते हैं वो वैसे देवताओं के यहाँ स्वर्ग पहुंचना अलग है क्योंकि वहां के इंद्रासन तो मिलने वाला नहीं है जो जब पुण्य क्षण हो रहा पुण्य लेके गया था पुण्य क्षण हो गया तो देवता लोग वहां से उसको नीचे धकेल गए तो किस में डाल देंगे पर्जन्य में हवन कर देंगे पर्जन्य माने जल गिराने वाला जो देव होगा बरसात के लिए तैयारी जो देव होगा उसको पर्जन्य सार से वहां आएगा वो अब आगे शरीर में निकल उतरते समय की बात है तो वो पर्जन्य में आने का दृष्टि रूप में नीचे आएगा धरती पर पड़ेगा पर्जन्य दूसरा अग्नि हो गया बादल और तीसरा अग्नि धरती धरती में आएगा तो धाम जवादी रूप से पैदा होगा यानी उस जीव का आएगा धाम जवादी होकर आएगा तो ये अग्नि हो गया तीन बार अग्नि हो गया चौथी बार वो धान जो आदि किसी पुरुष के शरीर में चला जाएगा गृहस्थ पुरुष के तो फिर उसके खाने के बाद वो सप्त के रूप में बीवी रूप में प्रकट होगा उसके सहारे आएगा वो जीव आगे शरीर ले रहा है उसमें फिर वहां से अवस्था में जो भी हो स्त्री के साथ संबंध होगा तो उसमें पहुंच जाएगा गर्भ में रहेगा नौ मास तक उसके बाद पुनः फिर शरीर प्राप्त करेगा पांच बार आहुति होने के बाद शरीर प्राप्त करता है जीवात्मा की चर्चा है कोई चर्चा यहाँ करने जा रहे सामान्य उसी परमात्मा से सब कुछ पैदा हुआ है तस्मार अग्नि अग्नि मैंने स्वर्ग क्योंकि विराट में जो शिव रूप से कहा था अग्नि वो भी एक अग्नि स्वर्ग का बहुत भी ऐसा होता है वो जो लोग है ऊपर वाले लोग वो अग्नि है क्यों यहां से जब जीवात्मा बनता है तो वहां हवन होता है उसको मैंने वहां पहुंचता है जैसे में जाना होता वैसे होता है तस्वाल अग्नि उसी परमात्मा से अग्निमा ने स्वर्ग पैदा होता है संविधो यसे सूर्य जिस स्वर्ग रूपी अग्नि का सूर्य या संविधा क्या है अग्नि के जल की संविधा सूर्य सूर्य प्रकाशित करता है जिसको ऐसा जो स्वर्ग है वो जिस उसी से पैदा हुआ है परमात्मा से सोमार पर्जन्य और स्वर्ग में गया तो सोम बना था वो फिर पर्जन्य रूप के नीचे आएगा तो बादल बनेगा बादल वैसा आए होकर के जल से वृष्टि होकर वो समय है प्रतिज्ञान पृथ्वी में पहुंचेगा इसके बाद तो करके आएगा तो क्या होगा औषधियां बनेगा औषधि माने धान जो वाली जो फल पाल होकर के स्वयं नष्ट होते औषधि बोलते हैं उस रूप में आएगा कुमार मेहता सिंह देव जो औषधि धांजव आदि में आया हुआ है फिर पुरुष के पेट में जाएगा फिर रेता सिंचरी जब सिंचन होगा योशितायाम स्त्री में जब बहुरी प्रजा पुरुषार्थ संपुष्ट होता उसी परमात्मा से सारी प्रजाएं फिर पैदा हो जाती मान मैत्री सृष्टि के माध्यम से फिर पैदा हो जाती ऐसा कहा उसी परमात्मा से होना है यही है आज में कहते हैं पंचाग द्वारा या संसरण जो पंचाग पांच बार हवन होना सत्कर्म करने वालों की चर्चा है दुष्कर्म करने वालों की चर्चा तो अलग ही होगी धार्मिक नहीं अलग है पंचानवे बार तो पांच बार आउट ही होगी जिनकी यहां से स्वर्ग पहुंचेगा एक बार आउट हुआ वहां से बादल में वहां से ढकल ढकल देंगे कर्मक्षण होने पर दूसरे बार हवन हो गया वहां से फिर धरती पर पहुंचेगा तीसरा बार हवन हो गया फिर धान जब आगे की बात से तो पुरुष के पेट में जाएगा चार बार हवन हो गया फिर स्त्री के शरीर में पहुंचे पांच बार पांच बार हवन होने के बाद फिर कोई मनुष्य आदि नाम प्राप्त ऐसे चलता है पंचांग द्वारा इस पांच अग्नि के माध्यम से या की प्रजा जो प्रजा संसार को प्राप्त होते हैं घूमते रहते संसार मंडल में वह तापी वो प्रजा भी तस्माद वो पुरुषा प्रजाएंगे सारी प्रजाएं उसी पुरुष से उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं सभी उच्चते यही कहा जाता है तस्मात परस्पर पुरुषा जो परम पुरुष है आत्मा परमात्मा प्रजा स्थान विशेष रूप अग्नि सब विशिष्ट प्रजा के अवस्थान मान देवादि के अवस्थान रूप जो अग्नि है स्वर्ग है प्रजा का अवस्थान मान रहने का स्थान वो कौन है देवादि के रहने का स्थान रूपी अग्नि स्वर्ग स्वर्ग रूपी अग्नि उसी से प्रज्वलित होता है अलग कर दिया है विशेष होता है कहा समिधो ही ऐसे सूर्य समिधा युवा शब्द कहते सूर्य जिसके संविधान में काम करता है मैंने प्रकाशित करता है स्वर्ग को प्रज्वलित करता है सूर्य है स्वर्ग स्वर्गीय अग्नि का संविदा के स्थान में अग्नि है क्या है सूर्य है ऐसे स्वर्ग उसी परमात्मा से पैदा होता है सूर्य का ही जीवनों का समित सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है स्वर्ग लोग सूर्य के माध्यम से प्रकाशित होता है एक टिप्पणी एक और दो एक होना प्रजा कौन सी प्रजा रहती है अग्नि शब्द का तो प्रजा के रहने का स्थान माने देव प्रजा और स्थान स्वर्ग रूप देवता रूपी जो प्रजा है उसके रहने का स्थान स्वर्ग रूपी चर्चा हो दो नंबर का है ये जो धातु को लेकर के ये धातु अकर्मक धातु है युद्ध धातु हिंदी ये प्रद्युक्त धातु है अकर्म धातु है तो यह तो सकर्मक करके कैसे यहाँ पर बता दिया कि बोला चाहते समित कर्म प्रयोग कैसे कर दिया इसके लिए करके आगे व्याकरण अंतर्भाव का व्यर्थत्व लेना हिज हिजंत करके लिया पेट में हिच है ऐसा मान करके सकर्म का प्रमाण है क्योंकि हिजंत होने के बाद धातु सकर्मक हो जाता है ये करके कर्म निलट कर्म निलट पर लाया समित बनाया एक आगे भाष्य में तत्व ही का निष्पन्ना शोभान द्यूलोक में शोक रूप से पैदा होता है जो गया वो यात्री स्वर्गलोक में शोक रूप से पैदा होना है उससे पर्जन जो द्वितीय की संभव थी फिर वो शोक रूप से पैदा हुआ था उसको बादल में रगल देते हैं देवता को नीचे लाने के लिए धरती में लाने के बादल के सहारे जल के सहारे से नीचे आना उसने ये कहा तस्मात से पर्जन्यात पृथ्वी प्रकृताम सपनी जब बारिश होती है तो पृथ्वी पहुंचेगा वो फिर धान जब आदि खेती हो जाती है अन्न अन्न रूप में आ जाएगा वो औषधि में पुरुषार्थ में उतार दिया पुरुष रूपी अग्नि में डाल दिया गया जो अन्न है वो जो अन्न उस अन्न अन्न में पहुंचा हुआ जीव क्या करेगा उपादान उतार वही उपादान है औषधि उपादान कारण बन गया उसके द्वारा पुमान अग्नि है ये तरी पुरुष रूपी जो अग्नि है वो एक सिंतरी योषितायाम फिर स्त्री के साथ में संबंध करेगा पुरुष योषिति योषावन स्त्रिया योषा रूपी अग्नि वो भी अग्नि स्थान क्यों आवरण होता है इसलिए उसको स्त्री के अग्नि के स्थान में किया है वहां एवं क्रमेण बौघी मानी बौघी प्रजा सारी की सारी सृष्टि जो प्रजा है ब्राह्मण के चार वर्गों में विभक्त है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुक्रादि करके पुरुषार्थ परस्मात संपुरुषा संपद और परमात्मा से ही पैदा होना है सारे निमित्त वही है सबके लिए टिप्पणी की उपादान होता अभ्यर्थ तीन नंबर अनरेत प्रजा की उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में रेत अवस्था में है वो ऐसा कहा ठीक है पूर्व भाष्य में सर्वेशा भूटान अंतरात्मा कहा था अंतिम में उसका अर्थ टीका में करते हैं यहाँ भूत से क्या लेना है तो पंच महाभूटान पूर्व भाष्य के टीका है वहां भूतानाम शब्द है सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा सभी भूतों के अंतरात्मा कौन सा भूत तो कहा पंच महाभूतात्मा तो पंच महाभूत है उसके स्वरूप है वो आत्मा ये कहा था अंतरात्मा स्थूल पंचभूत शरीर को ही विराट करता क्योंकि स्थूल जो पंचभूत है वो वही शरीर है विराट उसके आत्मा है परमात्मा इसी तौर पंचामृत या प्रजा संसार के अभिभाषक जो था उसका अर्थ करते हैं कैसे आते हैं सारी प्रजाएं आद्यो पर्जन्य पृथ्वी पुरुष युवक शिशु पंचसु अभिवृष्टि अभिवृष्टि और उपासना में आया है पंजाबी विद्या उपासना प्रकार है छात्रों के प्रयोग में है द्यू पर्जन्य पहले द्यूलोक की अवधि में हम लोग स्वर्ग में वहां से मरने के बाद स्वर्ग पहुंचता है फिर वापसी के समय में बादल के सहारा नीचे आना है बादल में पहुंचेगा बादल के माध्यम से वृष्टि के माध्यम होकर के नीचे धरती पर आएगा तीसरे बार हो जाएगा हवन स्वर्ग बादल और धरती तीसरे बार हवन उसके बाद पुरुष के पेट में पहुंचना उसने अन्न के सहारे से खाया हुआ अन्न के सहारे से जीव ने चौथी बार अवन हो गया पांच बार स्त्री में पहुंच ये पर्जन्य पृथ्वी पुरुष से सो द्यूलो पर्जन्य वाले बादल जब जल पर वाला बादल और पृथ्वी और पुरुष और योषित मान स्त्री पंचसो अग्निदृष्टि पांचों में अग्निदृष्टि करके उपासना करने का विधान है छांदोग्य में भी है निर्धारण चौधरी तत्व है दूसरे स्मृति में प्रकाश के बाद यहां तो नहीं है छांदोग्य है तत्व है तत्वारण तो उसके माध्यम से जो लोग आते हैं वो भी उसी परमात्मा से ही सृष्ट है मुख्य कारण परमात्मा ही है ये कहा आगे मंत्र है तस्मादीक्षा सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च लोकः यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्मा मन आत्मा उस आत्मा से ऋचा सामा यजुषी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब उसी में पैदा चाहे ऋग्वेद हो चाहे सामवेद हो चाहे यजुर्वेद हो या तीनों वेदों की चर्चा होगी अथर्ववेद को ऋग्वेद के अंतर्भूत करके बोला जाता है या सब बोलते हैं यहाँ तीनों वेदों की चर्चा है ऋग यजु तो यहाँ अथर्ववेद है उसको ऋग्वेद का अंतर्भूत करके तस्माद ऋचा उसी परमात्मा से सारे ऋचा ऋग्वेद पैदा होते हैं और सामवेद पैदा होते हैं यजुर्वेद ये सब पैदा हो जाते हैं दीक्षा यजमान जब कोई भी कर्म कर रहा हो उसके पहले दीक्षा ग्रहण करता है दीक्षा माने मोहजी बदला आदि मेखला आदि किस तरह का वेशभूषा बनाना है एक एक के लिए तब तक एक एक अलग अलग दीक्षा एक ये दीक्षा ऐसी दीक्षा ये उसी परमात्मा से पैदा होना यज्ञास्त सर्वे कर्तव्य दक्षिणांश सारे यज्ञ जितने यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञ है उसी परमात्मा से पैदा होते हैं और कर्तव क्रतु माने भी यज्ञ का नाम है यज्ञ भी यज्ञ ही है तो दो दो क्यों कहा होगा क्रतु का अर्थ होता है जिसे पशु माना जाए जिस यज्ञ मन यूप के साथ हो पशु बांधने के जो खंभा होता है यूप बोलते यूप सहित जो पशु होंगे उस यज्ञ को क्रतु शब्द से कहा और सामान्य यज्ञ को यज्ञ शब्द से कहा अग्निहोत्रादि यज्ञाश सर्वे जितने भी यज्ञ है और भाग जितने भी सयोग यज्ञ है माने पशु बाधा जाता है क्षेत्र में और दक्षिणा सर यज्ञ में जो दक्षिणा दी जाती है परमात्मा से पैदा हुआ हो दक्षिणा सारे के सारे संभव आरोप है अध्यारोप करता है संभव सरस और यज्ञ कोई व्यक्ति करेगा कब करेगा सर के भीतर ही तो करता है साल से बाहर जा नहीं सकता कोई ये तीन सौ साठ दिन के भीतर ही तो करना होगा तो संवत्सर भी एक एक का एक है एक एक का अंग है ये किसी न किसी दिन तो करेगा तो एक एक का अंग होने से वो भी परमात्मा से पैदा हुआ संवत्सर यजमान और यजमान तो एक एक करने वाला वो भी परमात्मा से पैदा हुआ है और लोग हमारे कर्म फलान जितने भी कर्म फल मिल रहा है वो भी परमात्मा से पैदा हुआ सोमो यत्र कवल यत्र सूर्य जितने भी लोग हैं कर्म फल यहाँ से ब्रह्मलोक तक कर्म का फल हो सकता है जहां तक है जहां तक चंद्रमा के किरण पहुंचते प्रकाश करता है सोलह चंद्रमा जहां तक प्रकाश करे जहां तक सूर्य प्रकाश करे वहां तक ये कर्म फल में आ जाते हैं तो सब के सब क्योंकि आपने आत्मा के लिए तो न तदभाष है ये सूर्यो न को न निवर्तन थे तत्म परम वो आत्मा तत्व तो ऐसा है जहां तक सूर्य की गति चंद्र की गति है वहां तक लोग ऐसे संसार है लोक भी उसी से पैदा होगा शोको यत्र है जहां तक शोक माने चंद्रमा तभी प्रकटता है अपने प्रकाश के द्वारा अथवा यत्र सूर्य जहां सूर्य प्रकाशित करता है ये लोग सब उसी से पैदा होता है भाष्य किंच कर्म साधना फलानी जब तस्मादेव विद्या कर्म के साधन और कर्म का फल वो भी वो परमात्मा से पैदा होते हैं ये यहाँ श्रुति बोलने जा रही है ये कहना चाहते हैं कर्म साधना कर्म के जितने साधन हैं जो जो जिस साधन से कर्म निष्पन्न होगा और कर्म और उसका फल तीनों के तीनों तस्माद एवं उसी परमात्मा से ही होता है ये कहते हैं एक नंबर की टिप्पणी कर्म साधना की साधना कर्म ही साधन है फल के लिए कर्मरूप साधन और फल दोनों भी उसी परमात्मा से पैदा हुआ करता है प्रश्न हुआ कैसे होगा परमात्मा से कर्म पैदा होना कर्म के फल पैदा होना लोग पैदा होना कैसे होगा तब कहते हैं तस्मात पुरुषार्थ तस्मात ऋचा साम इत्यादि का ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद कर्म ज्ञान में आते हैं कर्म में प्रयोग होता है इनका कर्म करते समय में प्रयोग होता है तस्मात पुरुषार्थ उस उसी परमात्मा से जिस पुरुष की चर्चा चल रही है दिव्यो यह पुरुष समाज पुरुष शब्द से कहा था उसी पुरुष पुरुष पुरुष तस्मात का पुरुषा उसी पुरुष आत्मा से ऋच ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब उसी से पैदा होता है तो ये सामवेद तो स्पष्ट हो जाता है अलाप करके गाया जाता है प्लूट करके जैसा जो कई शोध करके गाना होता है तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में क्या अंतर है करने ऋग्वेद मंत्र यजुर्वेद में भी तो हो सकते हैं जैसे हम यजुर्वेद करके ले रहे हैं वहां भी ऋग्वेद के मंत्र हो सकते हैं जो ऋग्वेद जिसको बोल रहे हैं वहां यजुर्वेद के मंत्र हो सकते हैं ऐसे जहां पर पाल जो होता है अक्षर चार अक्षर मिलाकर के पाल बनाते हैं तीन पाद होते हैं कोई चार पाल होते हैं बराबर अक्षर हो नियत अक्षर वाले पाल से अवसान जो समाप्ति हो जाते हो उसको ऋग्वेद कहते हैं कहीं भी वो मंत्र मंत्र कहीं भी आ सकता है यहां बराबर अक्षर हो प्रत्येक पादों में बराबर अक्षर हो ऐसे ऐसे जो मंत्र होगा उसको ऋग्वेद का मंत्र समझना है और जहां पर अन्य अक्षर वाले पाद पादों में कई ज्यादा अक्षर कई कम अक्षर वाला होगा उसको समझना ऋग्वेद और भाषा का एक कहा है तस्मात पुरुषा ऋचा ऋचा मानी नियता अक्षर पादावसन्ना गायक गायक इत्यादि छंदो विशिष्टा मंत्र ये सब ऋग्वेदीय मंत्र कहलाते हैं कैसे जिसके नियत अक्षर है प्रत्येक पादों में बराबर अक्षर है मंत्र होंगे कोई तीन पाद के होंगे कोई चार पाद के होंगे ऐसे मंत्र होंगे किंतु प्रत्येक पादों में बराबर अक्षर होगा अक्षर कितने समय में माने व्यंजन को नहीं गिनना केवल स्वर स्वर को लेना अक्षर गिनना वर्ण गिनते समय में दोनों वर्ण है स्वर भी लिया जाएगा व्यंजन भी लिया जाएगा वर्ण और अक्षर में इतना भेद होता है वर्ग गिनते समय में दोनों गिने जाएंगे और अक्षर गिनते समय में स्वर को गिनना व्यंजन को नहीं स्वर स्वर लिया जाता है ऐसा तो नियत टीचर माने नियताक्षर पादावसाना नियत अक्षर के द्वारा पाद समाप्ति होती हो जिसकी पाद समाप्त होता हो बराबर अक्षर उसको जैसे गायत्री आदि शब्दों विशिष्ट गायत्री आदि शब्द विशिष्ट जो मंत्र है गायत्री आदि छंद है उससे विशिष्ट जो मंत्र है गायत्री मंत्र बोलते हैं जिसको बोलते हैं इत्यादि ये ऋग्वेदी मंत्र का हैं टिप्पणी दो नंबर की ना नेताक्षर पाद मान पाद समाप्ति ऐसा बराबर अक्षर के माध्यम से जिनके पाद पूरे हो जाते हैं चाहे त्रिपाद हो चाहे चतुष्पाद हो जो भी हो पूरे हो जाते हैं बराबर अक्षर के माध्यम से वो कहां का मंत्र समझना है ऋग्वेदीय मंत्र समझना किसी भी वेद नहीं भी कोई बंदर आ सकता है ये कहा आगे शाम क्या चीज है तो कहा शाम पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकम चोभारी गीत विशिष्टम पांच भक्तिक शाम साप्त भक्तिक शाम करके छात्र में शाम की बड़ी चर्चा है माने पांच अंक वाला शाम सात अंक वाला शाम ऐसा क्या क्या होगा या टीका में दिखा देंगे पांच अंक क्या है शाम का सात अंक क्या है पांडवर पिजमसा टबर सात का नाम है स्तोभारी गीत तो विशिष्टम स्तोभारी भी है माने कोई अर्थ नहीं है ऐसे भी कुछ मंत्र आते हैं जो शब्द आते हैं स्तोभ माने निरर्थक अर्थ नहीं होता किंतु तो गाना है उसके पुण्य फल मिल रहे ऐसे भी है ये ऐसे गाया जाता है जो ऐसे विशिष्ट जो होते हैं उसको शांत करते हैं स्तोभारी स्तोभारी ये आदिना अर्थवत ये तो अनर्थक हो जाएगा स्तोभा का अर्थ अनर्थक शब्द भी है कुछ जब गाने लग जाते अलापने लगते हैं शाम देते हैं कुछ अनर्थक भी शब्द आते हैं किंतु आदि से क्या लेना तो कहा अर्थवान शब्द अर्थवान शब्द भी है पता लगता है ये बात स्वभावी वर्ण विशिष्ट जो गाया जा रहा है स्वभावी वर्ण विशिष्ट चाहे सार्थक शब्द हो चाहे अनर्थक शब्द हो दोनों प्रकार के शब्द आएंगे गाया जाता है उसका उसको साफ समझना आगे ये तो उसी यजुर्वेद समझना उसको किसको ये तो अक्षर पाला वाक्य रूपाण ऐसे वाक्य हैं जिसमें बराबर अक्षर से पाल समाप्ति नहीं होती किसी पाल में ज्यादा अक्षर है किसी पाल में कम अक्षर किसी भी वेद में मिल जाए ऐसे मंत्र उसको यजुर्वेद का मंत्र समझे ठीक है गजोक्षी माने अन्यथा अक्षर पादावसन्नामी वाक्य वाक्य रूप है ऐसे वाक्य हैं अन्य अक्षर के द्वारा पाद समाप्ति होती है एवं त्रिविधा मंत्र इस प्रकार फिर तीनों प्रकार के मंत्र भी उस परमात्मा से प्राप्त पैदा हुए इसी से पैदा हुए हैं समझना और दीक्षा आगे दीक्षा शब्द आगे दीक्षा क्या है अरे दीक्षा मौन जी आदि लक्षण देखो यज्ञ आदि करने के पहले मौन जी बंधन करना मूछ की रस्सी बांधते हैं हाँ, कपड़ा आदि पहनते हैं जो ब्रह्मचारी आदि दीक्षा लेते हैं उस काल में मूछ की रशी पहनाया जाता है और ये सफेद कपड़ा आदि पहनाया जाता है ये दीक्षा का लाभ है दीक्षा मन मौन जाति रखना मुंजी जी मौनजी बंधन करना चाहते हैं मूझ की रस्सी को बांधते हैं ऐसा होता है कर्कियों कर्तनियम विशेष ये कर्ता के नियम विशेष है दीक्षा माने जो यजमान यज्ञ करने वाला करता होगा उसका नियम विशेष है मूल गिरेश आदि बात का नियम विशेष है मौंजादी चागिरी पड़े आदि ना मंगलसूत्र आदि का मंगलसूत्र धारण करना होता है किसी अच्छा काम करना हो तो अपवित्र वस्त्र में पवित्र वस्त्र धारण करना होगा मंगलसूत्र आदि धारण करना मौंजादी से आगे यज्ञ से सर्वे अग्निहोत्राद है यज्ञ से क्या लेना है तो सारे अग्निहोत्राद जितने हैं सब यज्ञ में आ जाएंगे यज्ञ से सर्वे अग्निहोत्राद यह और क्रत वह क्रतु क्रतु से क्या लेना है सयुग जिसमें खंभे पशु बांधने के लिए खंभा डाला जाता है जैसे जैसे अश्वित को वेदा जी करते हैं तो माने खंभा है जिसमें एक ही पशु बांधा जाता है तो युग सहित जो यज्ञ होगा बड़े बड़े यज्ञ जो होते हैं उसका नाम है क्रतु ये कहा युग के सही नहीं हो उसको क्रतु शब्द से समझना दक्षिणाश्च और दक्षिणा भी उसी परमात्मा से पैदा है दक्षिणा दी जाती है कैसे एक गाय से लेकर के सर्वस्व काम तक दक्षिणा ये है परंपरा है माने कम से कम एक गाय को होना ही होना है और अधिक में सर्वस्व तक दक्षिणा की परंपरा है ये कहते हैं दक्षिणा क्या है तो कहा एक गवाली अपरिमित सर्वस्वांत एक गाय से आरंभ करके अपरिमित यहां तक सर्वस्व तक सर्वभर देना भी ऐसा नहीं है सर्वमेद संतरऊ हो या ईजे सर्वमेदे ईजे ऐसा था कठोर परिषद हाँ। सर्वस्व दान के लिए किया था राजेश्वर ऋषि ऐसा तो एक गाय से लेकर के सर्वस्व तक सर्वस्व सर्वधाम तक देने का दान ये दान है दक्षिणा है संवत्सर से काल का नाम और संवत्सर भी क्या है काल है काल का नाम है माने अनंत अखंड एक काल है उसको हम टुकड़ा करके व्यवहार करते हैं अंत काल बनाते हैं हम काल एक ही है उसकी एक सीमा है सिर्फ हम सीमा करते हैं इतने होने के बाद में हम उसको एक दिन बोलते हैं फिर अवरात्र बोलते हैं खंड खंड करके चलते हैं सप्ताह बोलते हैं पक्ष बोलेंगे मास बोलेंगे थोड़ा बड़ा करके बोलेंगे फिर अयन बोलेंगे छह महीना को अयन जाएंगे छह महीना क्या है गाली तो है वो और संवत्सर बोलेंगे साल को संवत्सर बोलेंगे और इतना हिस्सा पहुंच गया तो संवत्सर बोल और काल तो चलता रहेगा हम अपने व्यवहार के लिए ऐसे खंड खंड खंड खंड करके बाहर जाते हैं को हाँ, तो काल क्या है कहा संवत्सर से काल कर्मांग संवत्सर क्या है काल का नाम है काल माने क्षण क्षण को काल कहा जाता है समय समय यही है घबराज कर्मांग कर्म के अंग होता है क्योंकि कोई भी कर्म करेगा किसी न किसी समय में तो करेगा और संवत्सर से बाहर कोई जाता नहीं है ये अमु संवत्सर में करेगा तो दूसरा दूसरे संवत्सर में करेगा संवत्सर नहीं करना पड़ेगा उसको कर्म का अंग है वो भी परमात्मा से पैदा हुआ है समर्थन भी यजमान से करता यजमान कहा तो यजमान क्या है कर्म करने वाला व्यक्ति जो करता वो भी परमात्मा से पैदा हुआ है लोग कहा तस्य कर्म फल भूता जब यज्ञ करेगा तो कर्म का फल भोगने के लिए लोग होंगे उसको स्वर्ग होगा नरक होगा जो भी जैसा होगा प्रबलोत्तर तो होगा लोग कहा तस्य मान यजमान से कर्म फल होता जो यजमान के कर्म फल स्वरूप है कर्म के फल रूप मिल रहा है लोग ये विशेष विशिष्यते तो लोग का यहाँ विशेषण लगाते हैं कहाँ तक लोग है कहा सोम यत्र पवते यत्र सूर्य जहां तक चंद्रमा की गति है किरण जहां तक सूर्य की किरण की गति है वहां तक लोग है वहां तक आपकी गति हो सकती है कर्मों के आधार पर अलग अलग कर्म है तब तक कर्म से वहां वहां तक आप पहुंच सकते कहा कर्म प्रभु का एक अच्छा विशेष शब्द सोमो तो यत्र येसु लोकेशु पवते माने पुनादि को यह पवते धातु से पवते करके बोला पुनादि पवित्र करता है लोका लोका पुनादि लोगों को जहां पवित्र करता है अपने किरणों के माध्यम से चंद्र की जहां तक गति है वो लोग है कर्म फल के रूप में यत्र येसु सूर्यास्तवती जहां तक सूर्य की किरण पहुंचते ताप पहुंचता है सूर्य का ताप प्रकाश पहुंचता है ये सब लोग का नाम है तेज दक्षिणा दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग द्वय ये लोग जो है दो मार्गों से प्राप्त करने होते हैं एक दक्षिणायन मार्ग है एक उत्तरायण मार्ग यदि उपासना आदि किया हो आपने तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे आप वहां भी तारतम्य भाव है सब ब्रह्मलोक भी पहुंचेंगे ऐसी बात नहीं है उस मार्ग में जैसे हम ऋषिकेश हरिद्वार मतलब उत्तरकाशी आना होता है कोई नरेंद्र नगरी डूब जाता है कोई चंबा तक आएगा कोई टेहरी तक आएगा कोई कोई उत्तरकाशी पहुंचेगा स्थिति है सब मार्ग तो कोई है ऐसा चलेगा उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग में ऐसे ही है सब स्वर्ग ही पहुंचे इस बात में कोई नीचे नीचे भी रह सकते हैं रास्ता वो है कर्म के आधार पर फल तारतम्य कर्म के तारतम्य से फल तारतम्य है उपासना के तारतम्य से फल है ठीक है तो दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग वेगम है यही लोग हैं जो कि दो मार्गों से प्राप्ति होने योग्य जिसने कहा गया लोग है दो प्रकार के लोग हैं विद्वत अविद्वत कर्तृफल होता है उपासक अथवा अनुपासक दो प्रकार के कर्ता के फलभूत लोग फलस्वरूप लोग उपासक होगा तो उत्तरायण मार्ग तरफ से जाएगा और केवल कर्मी होगा तो दक्षिण मार्ग से ये कर्म का फलभूत लोग है ये सब के सब उस परमात्मा से पैदा हुआ है ये कहा भाष्य में कहा था शाम को दो प्रकार बताया था पांच भक्तिक शाम और सात भक्तिक शाम करके कहा था ये पांच भक्तिक शाम क्या है मैंने पांच अवयव वाला पांच टुकड़े में विभक्त होने वाला शाम और सात अवयव वाला शाम तो क्या होता है शाम लोग चर्चा है वे बोलते हैं हिंकार टीका में करते हैं हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निंदाख्या पंचवर्त ये पांच पंचवर्ती सामने कहते हैं एक हिंकार नाम है उसका दूसरा है प्रस्ताव तीसरा है उद्गीत चौथा है प्रतिहार पांचवा निधन पांच अवयव को पांचवर्ती शाम करते जिसमें पांच अवयव हो हिंकार हो प्रस्ताव हो उद्गीत हो प्रतिहार हो निधन हो ऐसे शाम को कहेंगे पांचवर्ती शाम पांच अवयव है और अवयव पंचवर्तमान भक्ति माने अवय टुकड़ा पांच टुकड़ा है जिसका पांच टुकड़े में होता है इसका तद तथोत्तम तथोत्तम पांचवर्ती उत्तम पांचवर्ती था उसको और सातवर्ती क्या होता है दो और बढ़ जाते हैं वहां सातवर्ती हिंकार प्रस्ताव उदगित आदि हिंकार प्रस्ताव आदि उदगित प्रतिहार और उपद्रव निधन सात होते एक इंकार है एक प्रस्ताव है एक आदि है एक उद्गीत है एक प्रतिहार है एक उपद्रव है और निधन सात टुकड़ों में सात अवय तो सात तो भौतिक सात कहते हैं सप्त वक्तव्य जैसे सात अवय अवय जिसका उसको तत्कथोत्तम मैंने ये सात वर्तिकम कहा स्तोभ शब्द आया आदि गीत विशिष्टम कहा था शाम को स्तोभ मान किया स्तोभ हो अर्थ जो वर्ण जिस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होगा जैसे ओम बोलते हैं फट बोलते हैं इत्यादि अस्त्राय हूँ अस्त्राय फट शिकाय हूँ इत्यादि बोलते हैं कब्जाय हूँ इत्यादि उसका अर्थ नहीं होता अर्थ में वाला है किंतु उसको उच्चारण से फल मिलेगा आपको वर्ण का फल नहीं है वेदमंत्र है छोड़ना नहीं है बोलना है बोलने से फल होगा शोभ माने होता है अर्थशून्य वर्ण अर्थशून्य जो वर्ण होगा जिस वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको शोभ शब्द से कहा है आगे दक्षिणा शब्द के अर्थ किया था तो दक्षिणा माने क्या एक गाय से लेकर के सर्वस्व दाम तक दक्षिणा कहा जाता है तो क्या है विश्वजित सर्वमेधा एक होता है विश्वजित एक सबको जीतना है उसके लिए यज्ञ करना है तो सर्वस्व दक्षिणा देंगे विश्वविद्या और एक होता है सर्वैव यज्ञ ये दो में सर्वस्व दक्षिणा सर्वस्व दक्षिणा देना होता है बागेश्वर विश्वजीत यज्ञ करना चाह रहे थे वो इसमें तो सर्वस्व दक्षिणा देना चाहते थे क्यों थोड़ा लोभ के बारे में उन्होंने क्या किया पहले हिस्सा लगा दिया तो बाद में खाना पीना भी है हाँ, खाली कीर्ति चाहते थे वो तो क्या किया अच्छे अच्छे गायों को लड़ने के विषय में डाल दिया और बुढ़िया बुढ़िया गाय अपने से अपने लिए तो सर्वस्व देना है अपना घटना तो सही नहीं अपना चाला की थी वो तो बेचारा लड़का ने बचा लिया पिताजी को तो विश्वजित सर्व में दैव तो विश्वजित विश्वजित याग और सर्वप्रेम याग होता है ये दोनों में सर्वस्व दक्षिणा सर्वस्व दक्षिणा देनी होती है वहां और कुछ भी नहीं करना उस देश को छोड़ करके आपको दूसरे देश में जाना होगा एक बार रघु ने किया था ऐसे रघु राजा रघु ने किया था अतः दान आरभ्य सामान्य एक में एक गाय दी जाती है ब्राह्मण को दक्षिणा में वहां से लेकर के सर्वस्व दान तक एक में विधान अतः एकांत दान आरभ्य एक गाय को लेकर सर्वस्वांता सर्वस्वता तक स्वमन धन सर्वधन तक दक्षिणा भगवती ऐसे दक्षिणा होते हैं या तो ये सब के सब जितने कहे गए वो परमात्मा से पैदा हुए हैं यहाँ ये तात्पर्य लेना है आर्य और मंत्र है तस्माच देवा बहुधा संप्रसूता तस्माच देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयांसी मनुष्य पशवो वयांसी प्राणापानो प्रियवो तपश्च पानो प्रियवो श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य तस्माच बहुधा संप्रसूता बहुधा संप्रसाद्या मनुष्य पशवो वयांशी मनुष्य पशवो प्राणापानो गृह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च देवा तस्मात् एक पुरुष शब्द आ गया था दिव्य या उल्टा पुरुष समाज जाकर पुरुष शब्द आया कोई आत्मा को लेकर उसी पुरुष से उसी आत्मा से देवा बहुधा संपूर्ण सारे देवता जितने भी देवता हैं देवताओं में भी कई जातियां हैं सभी देवता एक ही जाति के नहीं है कई जाति सब देवता हैं उसी परमात्मा से पैदा हो गए अशुद्धा उत्पन्न हो गए साध्या और साध्य गण है वो भी और मनुष्य मनुष्य भी उसी से पैदा हुए हैं मूल कारण परमात्मा ही है सबका पशुओं बयांशी सारे पशु सारे पक्षियां बयांशी मन पक्षियां सबके सब परमात्मा से है यातक प्राण जो प्राण प्राणापान जिनको बोलते हैं श्वास प्रश्वास ये भी परमात्मा से पैदा हुआ है प्राणापान वृद्धि और खाद्य सामग्री जो धान जब आदि है ये भी परमात्मा से पैदा हुआ है तपस्या जो तपस्या बोलते हैं वो भी परमात्मा से पैदा हुआ है और श्रद्धा एक आस्तिक बुद्धि आती है जिसमें व्यक्ति लग जाता है उसका नाम श्रद्धा है विश्वास श्रद्धा भी उसी परमात्मा से पैदा हुई सत्यम जो सत्य भाषण है वो भी परमात्मा से पैदा हुई और ब्रह्मचर्य जो भी वो भी परमात्मा से और विनिश्चय विधि इति कर्तव्य था ये कार्य को कैसा करना इस प्रकार करना करके बताने वाले को इति कर्तव्य था विधि बोलते हैं ऐसा करना उसको इति था बोलते हैं विधि बोलते हैं ये सब उस परमात्मा से पैदा हुआ है तस्मात से पुरुषार्थ तस्मात पर पुरुषार्थ तस्मात से पुरुषार्थ उसी पुरुष से उसी आत्मा से कर्मांग होता है देवता का से जो नाना प्रकार देवता है सब प्रसूता परमात्मा से सब पैदा हुए हैं तो है क्योंकि उद्देश्य देवता का उद्देश्य करके प्रक्षेप करना होता है इंद्राय उद्देश्य दिया विशेष ही है सात दिन हैं मनुष्य कर्म दिखता मनुष्य को अपने कर्म के अधिकारी बने हुए कर्म करने वाले भगवान जीवन ही कर्म दो प्रकार के पशु पशु है सब पशु भयांशी पक्षी अतिरिक्त और प्राणापान है जीवन प्राण ऐसी वस्तु है जो मनुष्य आदि मात्र के जीवन है अगर प्राण अपान न हो थोड़ा सा आना जाना न हो जीवन समाप्त जीवन है जीवन मनुष्य मनुष्य आदि नाम खाली मनुष्य आदि लगा दिया तो में जितने भी होंगे सबका जीवन है ब्रह्म परमाणु परमात्मा से परमात्मा किसके लिए के लिए हमें के देवता के गया तो भी कर्म है अगर आप मैंने करके बैठेंगे तो कर्म सबसे बड़ा तथ्य है चंद्राया तो बहुत सारे पता है मन और एकाग्र करना एक विषय करना ये सबसे बड़ा मन और इंद्रियों को एकाग्र करना मुख्य करना ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा ऐसा वो भी कर्म जानता है अगर इंद्रिय संयमित करके बैठा होगा तो कर्म सफल होगा तो कर्म निष्फल नहीं हो सकता क्योंकि कर्म तो तो लोग अंदर के कर्म होगा तो संस्कार लक्षण उस निर्माण के द्वारा संस्कार करने के लिए होता है और तप किया होगा तो है तो संस्कार भी चल जाएगा सही कर्म कर पाएगा अगर तपस्या नहीं है तो काम कर्म सही नहीं कर संस्कार जो ये का संस्कार करने वाले कर्म करने वाले जो अधिकारी है उसको संस्कार स्वरूप है हाँ, संस्कार लक्षण ये संस्कृत जिससे जजमान जो होगा पुरुष संस्कृत हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा तब से तो योग्यता तो जो होती है कर्मानुसार की योग्यता भी प्राप्त करेगा जैसे जब तक कर्म नहीं हो तब तक नहीं कर सकता इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करना हो उसके पहले उसको प्रायश्चित करवाते हैं एक एक खाना ऐसा खाना ऐसा करना ऐसा करना प्रायश्चित करवाते तब सामान्य तब करवाते तो तब ये पुरुष संस्कार लक्षण जिसको यजमान को संस्कार करना है आगे उसका संस्कार करना है कर्म करना है ऐसा स्वतंत्र तो और तब ये है ये तो वैज्ञानिक करने के पूर्व करना है ये फल और कुछ तब ऐसे स्वतंत्र फल के साधन भी है स्वतंत्र फल भी है ये नहीं कि तब करने के बाद एक ऐसा नहीं कुछ ऐसे तब है जो स्वतंत्र फल देने वाले श्रद्धा श्रद्धा है परमात्मा से पैदा हुई है श्रद्धा क्या चीज है यह सर्व प्रसाद चित्त प्रसाद जिसके होने पर सारे कर्म कर सकते करुणा भी है करके शास्त्र बन रहा है यदि उसमें श्रद्धा बन गई निष्ठा बन गई तो आपका जिसके होने पर कर्म हो सकता है सत्कर्म हो सकता है जिसके होने पर नहीं श्रद्धा जैसे पुरुषार्थ प्रसन्न होगा आस्तिक आस्तिक ने अपने लक्ष्य को नया करके दृढ़ हो जाए उसी का मानस प्रयोग अनुष्ठान जिसके होने पर संपूर्ण पुरुषार्थ है साधन के चित्र प्रसन्न और है तो शांत करेगा शांत करेगा तो नहीं करेगा उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है आगे सत्यम अमृत वर्णन और सत्य क्या है झूठ नहीं बोलना और खाली झूठ न बोलने से भी नहीं दूसरा भी बोलना पड़ेगा दूसरे को तो कष्ट होगा हो ऐसे वाणी बोलना झूठ भी ना हो दूसरे को कष्ट नहीं यदि आप सत्य को बोलते हैं कि उसको चूक जाए उसको दुख हो कष्ट हो ऐसे बारे में बोलते आपके वाणी में एक तो सत्यता चाहिए जिसे माधुर्य भी चाहिए मिठास तो क्योंकि सत्य पूजा प्रियम पूजा ऐसा है सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए सत्य हो न पूजा सत्य हो प्रिय सत्य होने पर भी प्रिय हो दूसरे को परेशान होने से बैठे नहीं बोलना प्रियंतर नागरिकत्व अच्छा तो लगता हो झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलो छात्रों से करने वाले ऐसे अच्छा बोलेंगे चलो बेटा कुछ और है ऐसे हमारे प्रश्न से करना चाहिए और प्रियता बाद में करना चाहिए ऐसे देखो दूसरा हमारे आराम से काम नहीं चलेगा यथा होना तो जैसे सब हुआ ऐसे करना तो पीड़ा कर साथ में पीड़ा करने वाला भी प्राप्त करने वाला भी उसमें भाग भी लगा कठोर वचन का बोलिए सबके रखना चाहिए उसको मधुर बनाया जा सकता है इस प्रकार ऐसे बना के बोलिए इस मधुर और भाग लोग असत्य ये सत्य सब करने माने मैथुना और समाधान प्रवृत्ति शब्द का अर्थ मैथुन धर्म का कल्याण ये सब उस परमात्मा से कल्याण का हाँ, अर्थ सर्वप्रथम शांति प्रयोग में इस प्रकार करना चाहिए इदम एकम करने इदम एकम करने ये इस प्रकार करना चाहिए ऐसे विद्वान तो जब वो कहीं आया है करना चाहिए तो ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति का हो गुरु को मिल करके तो डर बैठे ब्रह्मा का था हमारे गुरु की था एवाबू राजेश क्षत्रियों के लिए एवाबू सब माना गया दलिया जैसा घी में बनाया जाता है दलिया जैसा ही बहुत मोटा मोटा करके बनाया जाता है जिसको लक्ष्य करते हैं हिंदी भाषा तो क्षत्रियों के लिए कृष्ण पक्ष का जैसे आपने जौ के आटा खाना होता है तो पहले आपने एक गिलास ग्लास कम कर दिया दूसरे दिन आपने दो गिलास कम कर दिया द्वितीय दिन द्वितीय करके करके अमावास्या के समाप्त करके एक एक गिलास कम कर दिया पंद्रह गिलास के हिसाब से चल रहा है पंद्रह गिलास से एक एक हम करते हैं कृष्ण पक्ष ऐसा करते हैं अमावासी में मिला और फिर प्रतिपदा से एक ग्लास शुरू कर दिया खाना फिर दिव्या को दो ग्लास दिव्या को तृतीया शुभ पक्ष ऐसा फिर पूरे मास में इसको कहते हैं चांद्रायण जब क्योंकि जौ का आज आपको बना के होता है वो भी उसे और कुछ करके कहा उसी जगह को पहले गाय को खिलाए और गाय के गोबर से जो निकलेगा उसको धोएंगे फिर उसको कुछ करके बनाएंगे उसी का प्रकार बनाएंगे तो उसको कहेंगे कृष्ण कहता है बिना गाय के पेड़ से ऐसे लेकर के किसान खाएंगे उसको जान जाएंगे और गाय के पेड़ में लगवा करके गाय के गोबर से निकाल साफ उसको फिर सुखाएंगे फिर पीटेंगे लोग उठाएंगे पीसेंगे तब तो प्रकार वही है एक महीने का व्रत होता है उसको अपने कृष्ण नाम जो स्वतंत्र करना है ये सब कुछ परमात्मा से पैदा हुए आगे और बोलते हैं तो हमारे ये शरीर में सात छिद्र है दो राशि का है दो आंख के छिद्र है दो कान के छिद्र है दो छिद्र है सात छिद्र है यहाँ पर सात प्रकार की इंद्रिया बैठी हुई है और ये सारा प्रकार का विषय के ग्रहण कर दिया विषयों और सातों प्रकार के का विज्ञान भी होगा यह सब उस परमात्मा से पांच विभक्ता है पांच भाग में साथ साथ करने वरदान और प्रत्येक प्राणी के साथ साथ रहने वरदान प्राप्त है ये भी परमात्मा से पैदा हो जाएगा सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताश्च श्रमिदः सप्तमे लोका चरन्ति प्राणः सप्तमे लोका चरन्ति प्राणः गीता सप्त सप्तः गीता सप्त सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्त शब्दैवेदेवायेषु चरति सप्त सप्त भाषायिका सप्त सप्त तस्मात् परमात्मा तस्मात् पुरुषार्थ इस पुरुष की चर्चा करने के साथ में चर्चा करने लोग साधना से श्रवण प्राण प्राण बने हैं इंद्रिय गौण प्राण लोग प्राण नहीं श्रवण प्राण है मतलब नमस्कार इसलिए और वो तो उसी से पैदा हुआ है सब असप्तावती सब सात प्रकार के इंद्रियो अपने अपने विषयों में जाने की शक्तियां हैं अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति को बिना अच्छी कहा अपने अपने विषय प्रकाश करते हैं अपने विषय प्रकाश करते सभी जैसे फोन करके ज्ञान होता है लेखन ज्ञान होता है प्रकाश करते हैं सभी प्रकाश करते हैं नाना प्रकार के अच्छी बने प्रकाश और सप्त संविधा सात प्रकार के संविधा में विषय सात प्रकार के विषय सात सात विषय और सप्त होगा और उन सात प्रकार के हमें विषयों का ज्ञान आर्जन करना अपने में विष्णु का ज्ञान हो सबका और सबका भी लोग कहा और इंद्रियों का वृद्धि उसी हिसाब में लोग हो गया शब्द प्राण एक शब्द और दूसरा नाम होगा शब्दार्थ तीसरा होगा सप्त समीकरण चौथा होगा शब्द हो और पांचवा होगा शब्द पांच रूप है साथ ये सब के सब प्राण मूढ़ाशयाभेदा शब्द शब्द ये मैंने शरीर रूपी मूढ़ा में आश्रित है साथ साथ को विभक्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड में सारे प्राणी मात्र बदल देते हैं ये भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हो गया है भाष्य शब्द शीर्षण्य शीर्षी बला शीर्षण्य शीर में तो होते हैं गले से ऊपर ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೀತ ಮಾಡುವಾಗ शेषाज्ञ तस्मारी को प्रचार प्रबंधी के साथ उसी परमात्मा से प्राप्त होते शरीर के साथ एक नंबर की शेषाज्ञ ज्ञानाक्षी सर्वद्वयम पाठ टिप्पणीकार करने के शेषाज्ञ ने श्री माना है ज्ञान भाषी का दो है पूरा पिता का दो प्रकार के साथ सर्व स्व विषय अपने विषय को अवरोधन करने वाला प्रकाश करने वाले हैं टिप्पणी कार कहते हैं प्रतिपरेता प्रकाश प्रवृत्तियां करती है माध्यम से तो फल रूप में चेतन है वही मात्र है ये विषय सात प्रकार की संविदा सात विषय सात संविदा है उसी काम करते हैं विषय ही सभी विषय के द्वारा ही ये प्रज्वलित होने के लिए विषय हो इंद्रिया प्रज्वलित हो सब तो होगा सात प्रकार हो गया है सब विषय विज्ञान आदि तत्पर विषयों का विज्ञान जानकारी होना उनके माध्यम से होना वो आवन है विज्ञान में बनना शास्त्र विषय में बनना एक आवन आया जिसका ज्ञान होगा उसी के अमल करता है पहले ज्ञान होगा बाद में अमल करेगा जिस इंद्रियों का विषय का ज्ञान होगा वही इंद्रियों को अमल करेगा जिस विषय का ज्ञान होगा उसी में इंद्रियों का अमल करता है विषय जिस विषय चलती संकल्प जिसलिए घूमते ही प्राण विशेषण ये तो ये प्राण दे करके कहा जिनमें प्राण विसरते है इसके प्राण का विशेषण लगा दिया जिनमें मुख्य प्राण को नाशिका आदि में नहीं है चक्षु आदि में नहीं प्राण होता है में तो चलता है तो ये जो विशेषण लगाने से मुख्य प्राण आते वृद्धि के लिए विशेषण लगा दिया आपने प्राण येषु प्राण विशेषण प्राण ये प्राण का विशेषण है प्राणापान आदि निवृत्त करना प्राणापान की निवृत्ति के लिए प्राण को मुक्ता प्रकाशिका से निकलना तो प्रकाशिका से प्रवेश करने का नाम अपा निकालने का नाम प्राण उसकी निवृत्ति के लिए जिन में अपने अपने स्थान को विचार करते हैं कहा पर इंद्रियों को ले रहे इदम यदि चरंती इस प्रकार जो जागृत में जाकर के हृदय में सो जाते हैं हृदय में एक हो जाते हैं इसलिए मुहा सजा सजा शरीर है और शरीर के गोलकों में तो पड़े हैं अथवा हृदय व स्वापकाल है सुश्रुति अवस्था हृदय जाते हैं हैं इसलिए हुआ सजाना उसके बाद में दस लगाना नियम थे बेटा भी नियम जाते मामले नियम जाते अरे निहित आस्था पिता माता सत्य सत्ता नेता शब्द जो है परमात्मा के सब सब करके जाने के लिए साथ साथ बाहर जाएंगे और ग्रुप है साथ साथ करके सब काम करेंगे ये बताए यानी जब आप आज्ञा दूसरा विदुषाम कर्माणी कर्मफलानी च अविदुषाम कर्माणी कर्षाधानी कर्मफलानी च सर्वम च अस्मारे प्रकरण जो चल रहा है सब पहला है ज्ञानी का कर्म ज्ञानी के कर्म का फल अज्ञानी के कर्म अज्ञानी के कर्म के साधन उसका फल सब सब उस परमात्मा से ही यही प्रकरण का ज्ञान से आपयाजी है जो आपयाजी है आपका में पूजा करने वाले को आपयाजी कहते देवताओं की पूजा करने वाले को देवयाजी आपका की पूजा आपका की पूजा तो शुभम आपयाजी का विदुषाम जो विवेकी लोग आपयाजी होगा जो विदुषाम करना है कर्म होगा कर्म होगा होगा ज्ञान गर्व है तो सभा में दूर भी हो गया और अभिशाम तो उसके साधन कर्म का साधन और उसके फल सबके सब एक तो पुरुष है परमात्मा उसी से पुरुषोत्तम और उसी से उसी अच्छा। तो ये आत्मयारियों का कर्म कौन सा कर्म होगा आपने कौन सा कर्म करेगा आपका पूजा पूजा करने वाला ये चंदन अक्षर लगाया नहीं जाएगा निराकार है उत्पत्ति करना संभव नहीं है पूजा करेगा होगा नहीं कैसे पूजा करना है परमात्मा ये संपूर्ण और परमात्मा को परमात्मा सर्वम इदम सर्वम इदम जगत सारा जगत और हम लोग बैठा हुआ है क्या है परमात्मा परमात्मा ये सब कुछ परमात्मा या आत्मा ऐसी पूजा सोम भाव पूजा या आत्मा ऐसी पूजा होगी चढ़ाव में जब हम परमात्मा की भावना को ऐसे भावना पूर्वक परमेश्वर आराधन पूजा परमेश्वर की आराधना इसी रूप से समझ परमेश्वर भिन्न है मैं भिन्न हूँ इस रूप से नहीं चढ़ाव में जब हम परमात्मा एक भावना से पूजा करना है या पूजा की पूजा ये यजन भी जो इस प्रकार से यजन करते हैं कि ये समझ में आत्मयागी आत्मयागी रूप होते डबल और उसका कर्म का फल संसार भावागम से नहीं होता उसका फल और अज्ञानी जो अभिषुक है अज्ञानी उनके कर्म कर्म का साधन और कर्म का फल सबके सब जितने भी है उनके कर्म का स्वरूप कर्म का साधन कर्म का फल जो स्वर्ग जो सब उसका